परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणवध्वनी प्रेमी सज्जनों परमपिता परमात्मा का भाव मन में अधिक अधिक आए इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं विभिन्न शब्दों को विभिन्न विशेषणों को लेकर के परमात्मा को संबोधित करते हैं उसकी स्तुति करते हैं परमात्मा को दिए संबोधनों में महर्षि दयानंद ने आर्यभि विनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में जो बहुत से शब्द दिए हैं उनमें से अगले क्रम में एक शब्द एक संबोधन और लेते हैं महर्षि लिखते हैं हे मान्य प्रद मान्य का मतलब है सम्मान मान और उसको प्रद देने वाले प्रकर्ष रूप से देने वाले हे मान्य प्रद परमात्मा सम्मान देता है मान देता है हम परमात्मा की स्तुति करते हैं तो परमात्मा का मान करते हैं सम्मान करते हैं हम परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं हम उसका मान सम्मान करते हैं भक्त परमात्मा का सम्मान करता है मान करता है लेकिन यहां संबोधन दिया हे परमात्मा आप मान्य प्रद हैं मान करने वाले हैं मान को देने वाले हैं परमात्मा किसका मान करता है मान हम छोटे होते हुए बड़ों का करते हैं ये एक सामान्य नियम है और बड़ों का सम्मान करते हुए कभी हम उनको माला पहनाते हैं कभी उनको उच्च स्थान पर बैठाते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं परमात्मा किसका मान करेगा परमात्मा हम आत्माओं का मान करेगा लेकिन परमात्मा हमें कभी माला पहनाता हुआ तो अनुभव में नहीं आता न हमारी प्रशंसा करता हुआ प्रतीत होता है न हमें किसी मंच पर बैठाता हुआ प्रतीत होता है लेकिन फिर भी परमात्मा मान्य प्रत है महर्षि ने संबोधन दिया है मान्य प्रत लोक व्यवहार में हम दूसरों को मान सम्मान देते हैं नमस्ते करते हैं प्रणाम करते हैं परमात्मा हमें ऐसा भी नहीं करता है हमें इसकी कोई अनुभूति नहीं होती तो लोक में मान सम्मान के जो प्रतीक प्राय प्रचलित हैं ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता लोक में भी जिनका हम सम्मान करते हैं ये जन सामान्य के सामने या प्रतीक के रूप में कुछ बातें हैं कि माला पहना दी स्थान दिया ऊंचे जगह पर बैठाया उनको स्वयं नीचे बैठे उनको पहले दिया बाद में स्वयं खाया उनसे प्रेम से बातचीत की अभिवादन किया इत्यादि लेकिन मान सम्मान के इस बाह्य रूप के पीछे और भी बातें जुड़ी हुई हैं किसी को हम माला तो पहना दें लेकिन उनको जल के लिए ना पूछें भोजन के लिए ना पूछें उनके निवास की व्यवस्था के लिए ना पूछें तो जिसका हमने सम्मान किया है वो सम्मानित अनुभव नहीं करेगा वो ये अनुभव करेगा कि मंच पे लोगों को दिखाने के लिए मुझे माला पहना दी गई वास्तव में इनका मेरे प्रति कोई मान सम्मान नहीं है इसी तरह से नमस्ते प्रणाम अभिवादन मात्र कोई करे माता पिता को गुरुजनों को बड़ों को लेकिन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे उनकी देखभाल ना करें तो बड़ों के मन में एकदम भाव आएगा कि ये कोई मान सम्मान नहीं है और इतना मात्र मान सम्मान नहीं होता इतने मात्र से कोई मान सम्मान कहलाता नहीं है तो वास्तविक मान सम्मान क्या है जिसके प्रति हमारा मान है उसके हित की चिंता करना विचार रखना उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और वो आवश्यकताओं की पूर्ति भी अच्छी प्रकार से करना अपमान पूर्वक नहीं दुत्कारते हुए वस्तुएं देना यह भी सम्मान नहीं कहलाता वस्तुओं का प्रदान मात्र आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र भी सम्मान नहीं है मान नहीं है वो भी ठीक प्रकार से दिया जाता है प्रेम से दिया जाता है विनम्र होकर के दिया जाता है तो मान सम्मान का स्वरूप आवश्यकताओं की पूर्ति हित चिंतन और वो भी ठीक तरह से करना इसमें निहित है तो परमात्मा माला भले ही न पहनाता हो सम्मान नमस्ते अभिवादन न करता हो लेकिन हमारे लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो पूरा पूरा हमें प्रदान करता है छोटी छोटी चीजें भी वो प्रदान करता है जिस व्यक्ति का हमें सम्मान करना होता है वो जहां जाता है या हमारे यहां आता है उसके आने से पहले हम व्यवस्थाएं करते हैं जिसका जितना अधिक हमें मान सम्मान करना होता है उतनी अधिक व्यवस्था उसके लिए की जाती है सावधानी रखी जाती है पहले से व्यवस्थाएं की जाती है हम जब शरीर को धारण करते हैं जैसे कि अभी मनुष्य शरीर में है हमारा ये यहां आगमन है पिछला शरीर छूट गया है अगला शरीर प्राप्त हुआ है तो इस शरीर में आने से पूर्व जो व्यवस्था चाहिए वो परमात्मा पहले से करता है वो व्यवस्था चाहे माता पिता के शरीर में हो मां के शरीर में हो अथवा जन्म लेने के बाद में हो जन्म लेने के बाद भी कितनी सारी व्यवस्थाएं हमें बनी बनाई मिलती हैं पहले से तैयार मिलती हैं वायु जल भोजन बच्चे के लिए मां का दूध देखभाल इत्यादि सब व्यवस्थाएं बनी हुई मिलती हैं परमात्मा हमारी आगे से आगे चिंता रखता है और न केवल बाल्यावस्था में आगे भी और न केवल इस जन्म में अगले जन्मों में भी जहां भी हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म के योग्य हैं वहां वो हमें पहुंचाता है और वहां हमारे लिए आवश्यक साधनों सुविधाओं की व्यवस्था करता है ये परमात्मा का बहुत बड़ा मान है हमारे प्रति जो संसार में प्राय देखा जाता है कोई बहुत बड़ा हो या धीरे धीरे बड़ा बन रहा हो जितना वो बड़ा बनता जाता है उसमें विनम्रता कम होती जाती है दूसरों को मान सम्मान देना उसकी ओर से कम होता जाता है अन्य उसका मान सम्मान करते हैं जितना जितना उस व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है वो दूसरों का मान सम्मान और कम करता चला जाता है यदि संवेदनशील नहीं है यदि जागरूक नहीं है यदि आत्मविस्मृति में है सम्मोहन में है अहंकार में है तो दूसरों का मान सम्मान कम करता जाता है और ये प्राय लोक में देखा जाता है पद प्रतिष्ठा ऊंची मिल गई तो जो पहले अन्यों का मान सम्मान करता था वो छोड़ता जाता है तो बड़े से हमको सम्मान मिले हमें सम्मान मिले ये कम होता है परमात्मा की कोई तुलना नहीं है किसी से हमारी अपेक्षा उसमें हर चीज अनंत जैसी है लेकिन फिर भी परमात्मा हमारा मान करता है वो मान्य प्रत है और परमात्मा जितनी चीजें हमें देता है ये चीजें दुत्कारते हुए नहीं देता है अवहेलना करते हुए नहीं देता है हमें इतनी चीजें मिली हैं कोई ऐसी अनुभूति नहीं कि हमें कोई दुत्कार के दी गई हो हमारी उपेक्षा अवहेलना की गई हो देने वाला यदि देने के बाद में उसको बार बार जताए मैंने आपको ये दिया है और श्रेय लेने का प्रयास करे परमात्मा ऐसा भी नहीं करता है यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज देने के बाद में बार बार ये जताया जाए कि देखो ये आपको मैंने दिया है ये मैंने दिया है अर्थात आपकी स्थिति नहीं थी कुछ भी मैंने आपको वस्त्र दिए मैंने आपको धन दिया मैंने आपको विद्या दी मैंने आपको स्थान दिया मैंने आपको घर दिया मैंने आपको ये पद दिया ये बार बार यदि किसी व्यक्ति को बताया जाए तो जो देना सम्मान के रूप में कभी हो सकता था या प्रतीत होता है वो ही अपमान के रूप में बनने लगेगा अर्थात सामने वाले को हीन कोटि में बार बार अनुभव करवाना तुम तो छोटे हो तुम कुछ नहीं हो इस प्रकार से सामने वाले को अनुभव करवाना कभी भी सम्मानजनक नहीं होता है एक यथायोग्य स्थिति में बताया जाए कि आपकी ये स्थिति है केवल जनाने के लिए मैंने आपको <clears throat> ये सहयोग दिया है केवल इसलिए कि वो उचित व्यवहार देख सके कर सके तो परमात्मा इतना सब दे करके भी हमें ये बोध नहीं कराता कि मैंने ये सब दिया है जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते जो वेद नहीं पढ़ते उन्हें तो इस बात का बोध भी नहीं होता है वेद में परमात्मा ने ये सब बातें लिखी हैं कि भाई ये देने वाला परमात्मा है मैं हूं आप मेरी स्तुति करो मेरे से प्रार्थना करो ये केवल जनाने समझाने के लिए हमारे हित के लिए न कि अपमान करने के लिए न कि ये जताने के लिए कि मैंने दिया है तुम कुछ नहीं हो तो परमात्मा ये सब जो हमें देता है बहुत मानपूर्वक देता है बिना एहसान जताए देता है ये परमात्मा की ओर से हमारे लिए बहुत बड़ा मान सम्मान है समाज में जो हमें मान सम्मान देता है उपराय तब देता है जब हमने उसके लिए कुछ किया हो उस व्यक्ति के लिए उस समाज के लिए उस वर्ग के लिए कुछ किया हो तो वो हमें सम्मान देता है और जितना किया उसके अनुसार सम्मान देता है और यदि हम करना बंद कर देते हैं तो उस मान में न्यूनता भी आ जाती है परमात्मा के प्रति हमने कोई उपकार नहीं किया है परमात्मा को हमने कुछ नहीं दिया है परमात्मा को हम कुछ दे भी नहीं सकते लेकिन फिर भी परमात्मा जो हमें सब दे रहा है ये बहुत बड़ा मान है हमारा बहुत बड़ा सम्मान है लोक में हम मान सम्मान इसे भी मानते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा ध्यान रखता है क्या स्थिति चल रही है ठीक चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है सार संभाल करते रहना देखभाल करते रहना जानकारी रखना और उसके अनुरूप फिर कुछ ना कुछ यथा योग्य पूर्ति करना परमात्मा प्रत्येक आत्मा का पूरा पूरा ध्यान रखता है पूरी सार संभाल रखता है उसे हर क्षण पता है कि कौन सी आत्मा क्या कर रही है ये किसी जासूस की तरह से नहीं है कि खोजबीन की तरह से नहीं है ये किसी पुलिस वाले की तरह नहीं है कि कौन अपराधी क्या कर रहा है ये बहुत ही आत्मीय तरीके से बहुत सम्मान पूर्वक देखभाल के लिए वो जान रहा है हमें और इतनी आत्माएं होते हुए भी प्रत्येक आत्मा को पूरी तरह से देख रहा है जान रहा है सार संभाल कर रहा है नहीं तो एक छोटे से परिवार में दो चार पांच बच्चे होते हैं उनमें माता पिता किसी के प्रति कुछ अधिक ध्यान देते हैं तो दूसरा अपने को उपेक्षित अनुभव करता है सब माता पिता सब बच्चों से समान व्यवहार नहीं कर पाते उचित मान नहीं दे पाते ऐसे ही समाज के अन्य व्यक्तियों से हम सबको समान मान नहीं दे पाते कहीं ऊंच नीच होती है दूसरे ये अनुभव करते हैं कि मेरा ध्यान कम रख रहे हैं इसका ध्यान अधिक रख रहे हैं परमात्मा प्रत्येक आत्मा का ठीक ठीक ध्यान रखता है बिल्कुल अपना मान करके जैसे कि केवल एक ही आत्मा हो जिसको वो जान रहा है देख रहा है उसकी पूरी जागरूकता प्रत्येक आत्मा के प्रति है जैसे कोई अकेला व्यक्ति हो और दूसरा उसी एक की सार संभाल कर रहा हो तो पूरा पूरा ध्यान उसका रखता है दो तीन चार होते ही उसका ध्यान बट जाता है थोड़ा इधर थोड़ा उधर परमात्मा हम सब आत्माओं का ध्यान रख रहा है लेकिन इस तरह से जैसे कि मात्र मैं ही उसका अकेला पुत्र हूं पूरी तरह से सबका ध्यान रख रहा है दूसरों के ध्यान रखने में मेरी उपेक्षा कर दे किसी एक आत्मा की उपेक्षा कर दे ऐसा परमात्मा नहीं करता तो परमात्मा मान्य प्रद है हमें इस प्रकार से सतत मान देता रहता है चेतन आत्मा के लिए जो आवश्यक है वो उसे देता है अब परमात्मा के मान का यह भी अर्थ नहीं है कि वो सबको समान प्रदान करता है सबकी देखभाल समान करता है मौलिक रूप से समान देखभाल होते हुए भी वो यथा योग्य व्यवहार से युक्त है और मान देना मान्य देने का एक अर्थ यहां निहित है कि जितना है उतना प्रदान करता है मापन के साथ में माप के साथ में परमात्मा को जब माता शब्द से संबोधित किया जाता है तो उसका एक अर्थ ये भी होता है कि वो अत्यंत मान करने वाला है सम्मान करने वाला है मान्यप्रत है हमारा ठीक ठीक आकलन करता है बिल्कुल ठीक आकलन करता है ये परमात्मा की ओर से हमको मान्य दिया जा रहा है मान दिया जा रहा है और तदनुरूप यथा योग्य उसका व्यवहार हमारे साथ में सतत बना रहता है हम यदि किसी व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं वो पुकार रहा है और हम ना सुने ये उसका मान नहीं हुआ अपमान हो गया उसकी तरफ ध्यान ना देना वो पुकार रहा है बोल रहा है तब भी उसकी तरफ ध्यान ना देना मुंह फेर के चले जाना या सुनी अनसुनी कर देना ये अपमान है परमात्मा कभी हमारी अनसुनी नहीं करता है हम जो भी परमात्मा की स्तुति करते हैं जो प्रार्थना करते हैं जो कामना मन में रखते हैं मुझे ये चीज चाहिए ये चीज मिलनी है परमात्मा उसको ठीक तरह से जानता है सुनता है और फिर हमारे कर्मों के अनुसार जितना योग्य होता है वो प्रदान करता है तो परमात्मा चूंकि हमारी उपेक्षा बिल्कुल नहीं करता इसलिए परमात्मा हमारे लिए मान्य प्रत है जो व्यक्ति हमारे प्रति मान का भाव रखता है उसके प्रति हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए जैसा कि लोक में होता है कुछ विपरीत यदि कोई व्यक्ति हमारा मान करता है हमें अभिवादन करता है बहुत विनम्रता से व्यवहार करता है तो प्राय हम ये सोचने लगते हैं कि हम इससे पड़े हैं और हम अधिक मान करने वाले की उपेक्षा करने लग जाते हैं जो हमारा अधिक मान करता है जो हमारी अधिक देखभाल करता है उसे हम समझने लग जाते हैं कि ये तो मुझे प्राप्त है ही ये तो इसको ऐसा करना ही था और उसके प्रति हम उपेक्षा रखने लगते हैं और चूंकि हमारी कामना अधिक अधिक मान सम्मान की बनी रहती है तो हम उस व्यक्ति के पीछे अधिक पड़ते हैं जो अभी हमें मान नहीं दे रहा है हम ये प्रयास करने लगते हैं कि ये कैसे मुझे मान सम्मान दे दे जो मान सम्मान दे रहा है उसके प्रति कुछ उपेक्षा का भाव और जो मान सम्मान नहीं दे रहा है उसके प्रति इच्छा का भाव कि ये मुझे और मान सम्मान दे ये भी देने लग जाए और उस तरह की गतिविधियां हमारी प्रारंभ हो जाती हैं जो हमें मान अधिक देता है उसके प्रति छोटा भाव ये जो ना समझ लोग हैं उनके मन में आता चला जाता है आप यदि उनको अधिक सम्मान दो उनके अधिक आगे पीछे जाओ तो वो उल्टा सोचने लग जाते हैं इसको मेरे से काम होगा इसको गरज है इसलिए आ रहा है मेरे साथ में ये तो आएगा ही मेरे साथ में ये तो करेगा ही इसकी मजबूरी है और उपेक्षा का भाव चल पड़ता है परमात्मा हमारा इतना मान करता है यदि हम संवेदनशील हैं तो हम इसके विपरीत परमात्मा के प्रति और मान सम्मान बढ़ा देते हैं जैसे लोक में कोई हमारा मान करता है तो हम उसके प्रति और विनम्रता का भाव रखते हैं उसको भी और मान देने लगते हैं देखो कितना विनम्र है बड़ा होते हुए भी विनम्र है तो उसके प्रति और मान का भाव बनता है तो परम पिता परमात्मा को हमारे से कोई अपेक्षा नहीं है किसी प्रकार की लेकिन फिर भी वो हमारा इतना मान करता है इतनी त्रुटियां करने के बाद पदे पदे प्रतिदिन उसकी आज्ञाओं का भंग करने के बाद भी वो हमें मान देता रहता है हमें अवसर देता रहता है और जब हम सामान्यतया यही सोचने लगते हैं कि परमात्मा तो दे ही रहा है देता ही रहता है हम कुछ भी करें फिर भी वो हमें छोड़ता नहीं है तो हम उसके प्रति निरपेक्ष होते चले जाते हैं लेकिन समाज में जिसके प्रति हम थोड़ा भी कुछ गलत करें मान सम्मान ना करें तो प्रतिक्रिया होती है उसके प्रति हम बहुत सजग सजग रहते हैं उसको अधिक मान रखते हैं ध्यान रखते हैं कहीं इसका अपमान ना हो जाए कोई व्यवहार गलत ना हो जाए जैसे घर में एक छोटा बच्चा मां को मां सम्मान मान सम्मान देता नहीं है जबकि मां उसको बहुत सम्मान दे रही है इतना लाड प्यार से रखती है सिखाती है पढ़ाती है वो नमस्ते करने तक की उसके मन में नहीं आती है जबकि बाहर से कोई आता हो उसको नमस्ते करेगा उसको अच्छी तरह बैठाएगा उसका ध्यान रखेगा लेकिन मां के प्रति मां को खाना मिलाए नहीं मिलाए कुछ नहीं ध्यान मां को नींद आई है नहीं आई है कोई ध्यान नहीं सुबह प्रातराश चाहिए सुबह व्यवस्था चाहिए जो अधिक हमें देता है निकट का है और मानते हैं कि ये तो देगा ही मान के बैठ जाते हैं कि ये तो हमें प्राप्त है ही वहां उपेक्षा शुरू हो जाती है ऐसा ही परमात्मा के प्रति भी होता है इसीलिए हम अन्य व्यक्तियों का अधिक मान करते हैं परमात्मा की अपेक्षा बोलने में बोलते हैं कि परमात्मा सबसे बड़ा है उसको अधिक मान देते हैं लेकिन व्यवहार में जहां परमात्मा के निर्देश और अन्य व्यक्ति के निर्देश में विरोध आता हो तो हम परमात्मा के निर्देश को विस्मृत कर देते हैं छोड़ देते हैं और किसी व्यक्ति के निर्देश को मान लेते हैं क्योंकि उससे हमें अभी तत्काल प्रभाव पड़ रहा है ये परमात्मा का मान न करना है परमात्मा की उपेक्षा करना है क्योंकि मानते हैं परमात्मा तो मेरा ही है परमात्मा तो जो भी करेगा कर लेगा इनको पहले देखना है मुझे तो परमात्मा मान्य प्रद है ये स्वीकारने के बाद में अगला कर्तव्य हमारा जुड़ जाता है कि हम परमात्मा को उतना ही अधिक सम्मान दें स्वीकार करें वो इतना अधिक मान्य प्रद है ये हम स्वीकार करें और जो मन में आशंका होती है कि हम छोटे हैं परमात्मा इतना बड़ा है वो हमारा मान क्या करेगा तो लोक व्यवहार में भी देखिए छोटे छोटे बच्चों को हम बहुत मान सम्मान से बोलते हैं अनेक स्थितियों में बिल्कुल छोटा बच्चा है हम उससे इतने प्रेम से इतने आदर से बोलते हैं अनेक बार जितना कि अपने साथी से भी नहीं बोलते हैं तो बड़े भी छोटों के प्रति मान सम्मान रख सकते हैं और रखना चाहिए एक सामाजिक परिपाटी में भले ही जो अभिवादन के क्रम हैं लेकिन फिर भी बड़े भी छोटों के प्रति मान सम्मान रख सकते हैं और रखना ही चाहिए और ऐसे समाज में ऐसे घर में बहुत सुख रहता है नहीं तो केवल एक आदर्श लेके चलते हैं जहां कि छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए बड़ों को कोई चिंता नहीं है छोटों के लिए उनके आदर मान सम्मान की कि इनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे ये भी तो बड़ों को ध्यान रखना होता है यथा योग्य उनको पुरस्कृत करना होता है उनको मान सम्मान देना होता है और छोटों का मान सम्मान तो तभी होता है जब बड़े देते हैं उनको मान तभी अच्छा मान माना जाता है तो परमात्मा मान्य प्रत है हमें मान देता है और इसलिए हमें भी उसके प्रति इतनी ही और अधिक भावना बना के उसको अपने पूज्य मानना चाहिए मान सम्मान का एक अर्थ ये भी होता है कि जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको वैसा कार्य प्रदान करना उसकी जैसी योग्यता है यदि हम अधिक योग्य व्यक्ति को एक सामान्य सा कार्य दे दें वो उसकी उपेक्षा है उसका अपमान जैसा है उसका समय व्यर्थ करना है जो जिस योग्यता को रखता है उसको वो पद देना वो कार्य देना वो सुविधाएं देना तो किसी को कार्य देना भी उसका सम्मान है परमात्मा हमें हमारी योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र प्रदान करता है जो ब्राह्मण की स्थिति में है शिक्षक की स्थिति में है उपदेशक की स्थिति में उसको उस तरह की व्यवस्थाएं वो भी प्रदान करता है जो क्षत्रिय है उसको उस तरह की व्यवस्थाएं प्रदान करता है उसको वैसे अवसर देता है उसने ऐसे निर्देश किए हैं ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं समाज में मनुष्य अपनी कर्म की स्वतंत्रता से उसमें व्यवधान डालता है बाधाएं खड़ी करता है अव्यवस्था करता है ये एक अलग बात है लेकिन परमात्मा की ओर से ये व्यवस्थाएं बनी है हम जितने योग्य बनते हैं बनेंगे उस तरह के अवसर परमात्मा की ओर से हमें प्राप्त होंगे अगले जन्मों में होंगे इस जन्म में होंगे तो परमात्मा मान्य प्रत है ये संबोधन परमात्मा के प्रति और मान को सम्मान को हमारे बढ़ाता है परमात्मा यथा योग्य व्यवहार करता है मापन पूर्वक हमारे साथ व्यवहार करता है इसलिए भी वो हमारा मान्य प्रत है मन में शब्द की भावना रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे Oh.